छांदोग्य परिषद चतुर्थ अध्याय दसम खंड प्रथम मंत्र के ऊपर विचार हुआ जिसमें कार्य ब्रह्म समुचित कारण ब्रह्म पर उपासना है बतलानी है इस, इस खंड में मान कार्य ब्रह्म प्राण क्योंकि यहां पर अग्निया जो उपदेश करेंगी उपकोशल को प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा शब्द कहेंगे प्राण ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म और कम ब्रह्म खम ब्रह्म कारण ब्रह्म ये दोनों की समुच्चय उपासना है विधान करना इष्ट है इसके लिए प्रकरण आरंभ हो रहा है तो कहानियां बनाई उपकोशल नाम का एक कमल का संतान है उपकोशल नाम है जिसका सत्यकाम जावाल जो पूर्व खंड में चर्चा हुई जिनकी सत्यकाम जावाल के हम ब्रह्मचर्य वास करने गए माने स्वाध्याय के लिए गए और उस सत्यकाम जावाल के यहां बारह वर्ष तक उन्होंने अग्नि की सेवा की मैंने ब्रह्मचारी वास किया उपकोशल और भी ब्रह्मचारी थे किंतु वो जो गुरु जी हैं अन्य अंत्यवासी जितने थे शिष्य जितने थे सबका समावर्तन संस्कार कर दिया ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया उनका समावर्तन संस्कार कर दिया किंतु एक उपकोशन को समावर्तन संस्कार नहीं किया गुरु जी ने का कारण तो आगे पता लगेगा नहीं किया यहां तक ये मंत्र का विचार हुआ था आगे मंत्र है तम जायो वाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्नि परिचारी महात्वाग्नय परिप्रवोचन प्रभु प्रबुह्यस्मी तस्मत अप्रोच प्रवासान चक्रे तम जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्नि परिचारे मात्वा अग्नय परिप्रवोचन प्रभु यस्मी तस्म तस्मय अप्रोच प्रवासान चक्रे जब उपकोशल को सत्यकाम जाबाल में जाबाल ने समावर्तन संस्कार नहीं किया तब उनकी पत्नी उनसे कहती है सत्यकाम जाबाल की पत्नी तम जाया उपास तम सत्यकाम जाबालम जाया पत्नी उपास पत्नी ने कहा पत्नी कहते पतिदेव ऐसा है तब तो ब्रह्मचारी ये ब्रह्मचारी ने कठिन तपस्या की है आपकी अग्नि की सेवा की है बारह साल तक आपके यहाँ रहा है ब्रह्मचारी वास किया है तपस्या तप्त है तपा हुआ है कष्ट है कष्ट झला हुआ है कुशलम अग्नि परिचारित सम्यक कुशल माने सम्यक सम्र प्रकार से आपके अग्नियों के सेवा की परिचर्चा चचारित लूम लगा रहे इसकी सेवा की अग्नियों की सेवा की इस ब्रह्मचारी ने तो त्वा मात्वा अग्नय परिप्रवोचन त्वा अग्नय मा परिप्रवोचन कह अग्नि आपकी निंदा न करे कोई निंदा न कर दे इसने ब्रह्मचारी की क्षमावर्तन संस्कार नहीं किया करके निंदा न करें आपके लिए कोई नुकसान न हो जाए आपका अग्नि कुपित न हो जाए आपके ऊपर पत्ती कह गई है प्रभु ही अस्मय इसके लिए बताइए उपदेश दीजिए हाँ, विशेष उपदेश करके समाप्रथम संस्कार कर दीजिए क्योंकि सारा वेद पढ़ने के बाद भी विशेष उपदेश होता है तैतृ परिषद में है पितृदेव हुआ मातृदेव हुआ आचरदेव अतिथि अतिथिदेव आदि आदि विशेष उपदेश होता अंत में तो प्रभु ही अस्मय इसके लिए उपदेश कीजिए आप और समावर्तन संस्कार कर दीजिए ऐसा पत्नी ने कहा कहने पर भी तस्मय है अप्रोच्चय प्रवासन चले पत्नी के कहने पर भी उस उपकोशल के लिए तस्मय उपकोशल आया अप्रोचय बिना कहे उपदेश किया नहीं समावर्तन संस्कार किया नहीं बिना किए ही प्रवासांतग्रे प्रकृष्टवास प्रवास दूर देश में चले गए प्रदेश चले गए गुरु जी चले गए ये कहानी है भाष्य में कहते हैं तम आचार्य जायो वाच उस आचार्य जो सत्यकाम जावाल हैं उनको उसने उनके पत्नी ने कहा तब तो ब्रह्मचारी ये ब्रह्मचारी तपस्या की है बारह साल तक यहां रहा गुरुकुल रहा है तब तक कुशलम माने सम्यक अग्नि परिचारित इसने सम्यक प्रकार से अग्नि का जैसे अग्नि की सेवा होनी चाहिए उस प्रकार की सेवा की है इसने कुशलम माने सम्यक अच्छी प्रकार से अग्नि इन अग्नियों के तीन अग्नियां हैं आपके यहाँ गारपत्य अग्नि आहवनी अग्नि अन्नाहारी पचन अग्नि गृहस्थों में यहाँ तीन अग्निकुंड हुआ करते थे पहले जमाने में इसलिए अग्निम दिव्य दो बहुवचन है अग्नियों की सेवा की जाए मानी परिचर्चारित परिचर दिवान यही निष्ठा से अर्थ कर दिया अग्नियों की सेवा की है ब्रह्मचारी ने भगवान से अग्निशु भक्तम न समावर्त और आप पत्नी बोल रही है पतिदेव से भगवान माने आप आप अग्निशु भक्तम न समा अग्नियों के जो भक्त है अग्नियों की सेवा की है इसने और आप इसके समावर्तन संस्कार नहीं कर रहे वो क्वेश्चन अग्नि के वक्त है अग्नि के वक्तों के समावर्तन संस्कार नहीं कर रहे आप अतो अस्मद भक्तम न समावर्त इति ज्ञातवा त्वाम अग्नयो मां परिप्रवोचन कर रहा तब मां कुरी इसलिए अतः अग्नियों के ऐसे मन में ना आ जाए कि अस्मद भक्तम न समावर्त हमारे भक्तों को समावर्तन नहीं करता ये ऐसा अग्नि कुपित न हो जाए आपके ऊपर अतो इस कारण से अस्मद भक्तम तो समावर्त है अग्नि ऐसा सब समझे कि हमारे भक्त को ये समावर्तन संस्कार नहीं करते इति को ऐसा जानकर तो आम अग्नयो माँ परिप्रवोचन आपको अग्निया कहीं कुपित न हो जाए आपके ऊपर गर्हा तो आपकी निंदा न करे अग्नि आपके कोई अनिष्ट न हो जाए अग्नि कुपित न हो जाए तो उनकी पत्नी ने कहा अतः प्रभुरी इस कारण से अग्नि कुपित न हो जाए इसके लिए अतः मैंने अग्नि कुपित न हो जाए इसलिए प्रभु ही अस्मय विद्याम इष्टाम इसलिए जो इष्टा विद्या है इष्ट विद्या है जो उपदेश है बताइए कहिए आप इसको उपकोशल को प्रभु ही अस्मयी उपकोशलाय इष्टाम विद्याम इस उपकोशल के लिए आप इष्ट विद्या बताइए जो इसके लिए उचित विद्या है ये बताइए ऐसा पत्नी ने कहा तस्मय एवं जाया उक्तोपी उस उपकोशल के लिए तस्मय मैंने उपकोशल आया जाया उक्तोपी जाया मैंने पत्नी के द्वारा ऐसे कह जाने पर भी पत्नी समझा रही थी हाँ, कहीं वो अग्निया कुपित न हो जाए अग्नि का भक्त किया आपने समावर्तन संस्कार नहीं किया कुपित इसलिए इसके समावर्तन संस्कार कीजिए ऐसा कहने पर भी तस्मय आय जाया उक्तो भी पत्नी के द्वारा कहने पर भी हा अप्रोचय व अनुक्त उसको उपदेश किए भी नहीं किंचित अप्रोचय मैंने अनुक्त किंचित कुछ भी कहे भी ना कुछ बोले ही नहीं वो कुछ किए बिना ही कहे बिना ही प्रवासाम चक्रे मैंने प्रवेश विमान कहा प्रवास चले गए मैंने प्रवास विशेष स्थान में चले गए ऐसा कहा अच्छा ठीक है अच्छा एक नंबर टिप्पणी दसो बा आम दीर्घो इतिहास है ना द्वार कहते ये प्रवासान चक्रे लिट लकार में नहीं होना चाहिए क्योंकि बस धातु जो है ना इससे आम होना संभव नहीं है मन धातु परस्मयपदी है और आम होता है आम के लिए है काश प्रत्याद आम मंत्री लिटी इजादेश गुरुपुतो दृक्षा इत्यादि सूत्र है गृह हुआम सुलभा ये सूत्र है बस धातु से आम होना संभव नहीं आम होना भी संभव नहीं है और उधर प्रवासान में बास में जो बस धातु में दीर्घ होना भी संभव नहीं है ये छांदस प्रयोग है प्रवासान से बोल रहे हैं छांदसो बा आम दीर्घ आम भी जो हुआ है प्रवासान चक्र में जो आम किया बस धातु से आम का निमित्त नहीं बस धातु में और जो बस धातु को दीर्घ किया बास बनाया आकार बस धातु में दिखाई दे रहा है आगे आम दिखाई दे रहा है ये दोनों के दोनों छांदस प्रयोग है इसे आशय से कहा प्रवसितवान ऐसा निष्ठा लगा करके बोल दिया हम्म, प्रवास गए ऐसा आर्थिक व्यवहार भाषिका जो प्रवसितवान में भी इत नहीं होना चाहिए बस धातु अधिक है अनिट धातु है तो निष्ठा हवा है वहां तो ईट कैसे प्रवसित कैसे बता रहे वसित कैसे बनाया ईट नहीं होना चाहिए किंतु सूत्र है बसत छिदो रिट निष्ठा में ईट हो जाता है बस धातु और छिद धातु से बड़े निष्ठा के प्रकार को ईट होता है बसत छिदो रिट ऐसा सूत्र है तो ये ईट का निषेध करने वाला एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र है उपदेश में एकाच अनुदात धातु है बस धातु बस्ता बनता है लुट लकार में अनेक धातु है तो फिर ईट कैसे करना एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र निषेध करेगा तब कहते हैं संज्ञा पूर्व को विधि अनित्य ऐसा एक परिभाषा है देखो एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र के द्वारा जो ईट का निषेध करना होता है वहां पर पहले अनुदात संज्ञा करनी पड़ेगी अनुदात्त संज्ञा नीचे ही अनुदात्त अनुदात्त संज्ञा पूर्वक जो कार्य होता है वो कार्य अनित्य होता है तो अनुदात संज्ञा पूर्वक जो एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र ईट का निषेध करता है वो अनित्य है इसलिए निषेध नहीं कर पाया बसत सीधो रीट से ईट हो गया इसलिए कहा प्रवशितवान ये कहा अच्छा ठीक है तब तक अर्थ करते हैं तब तो ब्रह्मचारी कहा तब वो जावाल की पत्नी ने तब कहते हैं क्या है भगवत अपेक्षिताम सुश्रूषाम विदधानो बहु काय क्लेशम प्रदवान तब तक आते हैं आपके आपके लिए जो अपेक्षित था अग्नि की सेवा आपके यहाँ अग्नि है ब्रह्मचारी की सेवा की है भगवत अपेक्षिता भगवता अपेक्षिता भगवत आपकी जो अपेक्षित अग्नियां हैं शुश्रूषा जो सेवा है आपको अपेक्षित सेवा अग्नि की सेवा थी तो उस सेवाओं को विधान मैंने करता हुआ ब्रह्मचारी ने क्या किया बहु काय क्लेशम कृतवान बहुत शरीर को कष्ट दिया है इसने तीन तीन अग्नियों की सेवा किया बारह साल तक सेवा किया है इसलिए इसको आप उपदेश करें कहीं ऐसे ऐसा हो कि अग्नि कुपित न हो जाए आपके ऊपर हमारे भक्तों को समावर्तन संस्कार नहीं करता करके ये पत्नी का कहना है विवक्षित शुश्रूषा करण में विषय यदि सत्यकाम जाबाल के लिए जो विवक्षित शुश्रूषा है अग्नि की सेवा है उसी का विस्तार करते हैं कुशलम सम्यक अग्नि परिचारित कहा सम्यक प्रकार से अग्नि की सेवा की है आपके यहां ये ब्रह्मचारी ने उनकी पत्नी बता रही है उनको परिचर्या ये माने परिचर्यवान कहा ठीक है किमिति भगवत्या माम ब्रूही इतिदम इदम इदानी उच्यते नहीं मत्तो अन्यत्र त्वद अनुरागो युक्तिमान इतिहास भगवत स्नेहात इत्या सत्यकाम जावल पत्नी से कह सकते हैं किम इति भगवत्या माम ब्रूही आप ऐसे मेरे ऊपर कहो कहो इनको उपदेश करो करो क्यों बोल रही हो मेरे को छोड़ करके अन्यत्र प्रेम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तुम ब्रह्मचारी के ऊपर प्रेम कर रही हो ये वो कह, कहें ये कहते हैं कि मेरी भवत्या माम भवती का तृतीयांत भवत्या आपके द्वारा तुम्हारे द्वारा माम मेरे को ब्रूही इति इधम ब्रूही ब्रूही की जो बोल रहे बोलो बोलो इसको उपदेश करो करो ये जो मेरे लिए बोल रही हो इरानी उचित है क्यों बोल रही इस समय मेरे लिए कहा जाता है नहीं मत तो अन्यत्र तो अनुरागो एक मेरे को छोड़ करके अन्यत्र तुम्हारा प्रेम होना अच्छा नहीं है तुम ब्रह्मचारी के ऊपर में कृपा दया करके मेरे लिए बोल रहे हो बोलो बोलो करके बोल रही हो ऐसा वो सत्यकाम जावाल कहे तो उत्तर देती है वो भगवती स्नेहा भगवत शब्द का सत्य भी भगवती आप में प्रेम होने के कारण मैंने कहा कहीं अग्नि कुपित होकर के आपको श्राप न दें इसलिए मैं बोल रही हूं उनको उपदेश कर दो करके ये कहा भगवती स्नेहा आपके ऊपर मेरा प्रेम है इसलिए कहा आप में स्नेह है मेरा ये पत्नी ने कहा कहा भगवास्तु इत्यादि कहा भगवास्त अग्निशु भक्तम न समावर्त थी इसने सेवा की है अग्नि की और आप इसकी अग्नि के भक्त की आप समावर्तन संस्कार नहीं कर रहे हैं इसके कारण से अग्नि कुपित न हो जाए अतो अस्मद भक्तम न समावर्त ज्ञापता हमारे भक्तों को भक्तों के समावर्तन संस्कार नहीं करता ऐसा सोच करके त्वाम अग्रयो वहा परिप्रवचन गर्हा को भी कहा आपको अग्नि कहें कुपित न हो जाए आपकी निंदा न करें अग्नि ऐसा पत्नी ने कहा था प्रभु ही अश्वय विद्या विष्णाम घोषणाया ऐसा पत्नी ने कहा इसके लिए कहिए आप उपदेश कीजिए हम्म, इसको जो इष्ट है वो उपदेश दीजिए इतना कहा ठीक है अग्नि परिचरण माण ब्रह्मचारिणो असमावर्तनम अथ शब्दार्थ अतो अस्मद भक्तम में अथ शब्द आया इसका अर्थ है अग्नि की सेवा करने वाले जो ब्रह्मचारी है उसका समावर्तन संस्कार नहीं हो रहा है हम्म। इसलिए कहें अग्नि को कितना हो जाए ये पत्नी बोल रही है गर्हा परिहारो द्वितीय अथ शब्द पर दूसरे बार जो अथ शब्द आया अत प्रभु अश्मी में अत आया इसका वो क्या है जो अग्नियों के द्वारा आपके तिरस्कृत आप तिरस्कृत न हो जाए अग्नि आपके ऊपर कुपित न हो जाए इसके खंडन करने के लिए द्वितीय में अर्थशब्द है इसलिए बोलिया द्वितीय अर्थशब्द इसलिए दिया कहा आचार्य शुश्रूषा परम शिष्यम देवता एवं अनुग्रहणाती ज्ञापय तुम आरवते फिर भी इतने कहने पर भी उसको कुछ उपदेश किए बिना ही प्रदेश चले गए गुरु जी क्यों गुरु जी जानते हैं क्या जानते हैं यह है आचार्य सुश्रूषा परम शिष्यम जो गुरु की सेवा में लगा हुआ शिष्य होगा उसको देवता एवं अनुग्रहाती देवता ही उसके ऊपर कृपा करते हैं जो मुझे गुरु जी नहीं मैं आचार्य की सेवा कर रहा था तो मेरे देवताओं ने कृपा की है मेरे लिए वायु आदि ने मेरे को उपदेश दिया है वो ये जानते हैं सत्य काम जावा यही कहते हैं आचार्य सुश्रूषा परम शिष्यम जो आचार्य की सेवा में लगा हुआ शिष्य है उसको देवता एवं अनुग्रह तो देवता ही कृपा करेंगे हमें कृपा करने की आवश्यकता नहीं उसकी यदि आरभ आरभते इसको ज्ञाप सूचित करने के लिए आरंभ करते हैं तस्मयी इत्यादि कर कहा तस्मयी एवं जाए या उक्तोपी पत्नी के द्वारा इतने शब्द कहने पर भी उस उपकोशल के लिए अप्रोच्चैव अनुक्वा एवं किंचित कुछ कहे बिना ही प्रवासम चक्रे प्रवेश कहा प्रवास चले गए क्यों उनके मन में वो जानते हैं जो उस गुरु की सेवा करता हो तो उसके देवता स्वयं कृपा करते हैं क्यों मैं स्वयं साक्षी हूं मेरी ऐसी घटना घटी वो जानते हैं बात तो उनको ऐसे हुआ है उन्होंने संस्कार करने पर चार सौ गाय पकड़ा दिया था उनको जाओ जंगल में कई वर्ष जंगल में रहा आखिर वो वहीं देवताओं के द्वारा उद्दिष्ट हो गया है ऐसा उनके मन में है इसलिए उन्होंने उद्देश्य नहीं किया उसको यथान आगे मंत्र है गुरु जी जब चले गए इधर उपकोशल की स्थिति कैसी होती है उसके बारे में चर्चा है सह व्याधिना अनशितुम दध्रे तम आचार्य जायो वाच ब्रह्मचारिन असाना किम नुनाशनाशीति सहोवाच बहवा इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया यादिवी प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति सह व्याधिना अनशित दध्रे तम आचार्य आचार्यजायो वाच ब्रह्मचारिन्नसाना किसी सहोवाच भाव इमे अस्षे काम कामानानात्यया प्रतिपूर्वस्मे प्रतिपूर्वोऽस्मि सह सः स मैंने उपकोशल प्रसिद्ध है वो जो उपकोशल है जब आचार्य चले गए हाँ। गुरु माने तो कहा इसकी समावर्तन संस्कार इसका कर दो उपदेश करो कहने पर भी नहीं किया और चले गए गुरु जी ऐसा करने पर सह वो जो ब्रह्मचारी है उपकोशल हुआ व्याधि ना उसके व्याधि के द्वारा अनशितम तथे अनशन लेने की उसने निश्चय कर लिया अब खाए पिए बिना रह जाना है शरीर पात डाल देना शरीर को ये निश्चय किया न अशितुम अनशितुम अनशन लेने का निश्चय किया दखरे वाले निश्चय किया क्यों व्याधि मानस व्याधि उसके ऊपर मानस व्याधि चढ़ गई शारीरिक व्याधि तो नहीं मानस व्याधि दुख हो गया उसको मानसेन व्याधि ना एक तो शारीरिक व्याधि जो भी आपको चोट पटक फोड़ा फुंसी आदि हो एक मन में जो व्याधि लगी हुई है काम क्रोध लोभ मोह मदरस आदि व्याधि है माने उसकी इच्छा थी कि मेरा भी समावर्तन संस्कार हो जाए मैं गृहस्थाश्रम में जाओ ऐसी उसकी इच्छा रही गुरु जी ने समाप्रतम संस्कार नहीं किया एक मानस व्याधि है उसके ऊपर मानस व्याधि ना मानस व्याधि के द्वारा हम दधे उस उपकोषण या लेने के लिए निश्चय किया और खाए पिए बिना शरीर त्याग देना ये निश्चय किया तम आचार्य जाया उच उस आचार्य की पत्नी जो गुरु माँ है उन्होंने उस उपकोषण को कहा तम उवाच उसको कहा ब्रह्मचारी आसान हे ब्रह्मचारी तुम खाओ भोजन करो ऐसा कहा किम नून आस्था सीधि क्यों नहीं खाते हो गुरु मां कह रही है किंतु सहोवाच ब्रह्मचारी ने कहा उपकौशल ने कहा सह मैंने उपकोशल वाच उपकोशल ने कहा बहव इमे अस्मिन पुरुषे काम ये जो अकृतार्थ व्यक्ति है प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ जिसका अकृतार्थ है ऐसे व्यक्ति इमे पुरुषे पुरुषों में इन अज्ञानी जीवों में जो अकृतार्थ है जिसको अप्राप्त विषय विषय प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति में हाँ, बहवा काम बहुत सारी इच्छाएं होती है इसके अं- अंतकरण में काम मानी इच्छा बहुत इच्छा है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए या कृतार्थ व्यक्ति है कृतार्थ तो आत्मज्ञ होगा वो कृतार्थ हो जाता है बाकी अकृतार्थ है तो इनके अंतकरण में बहुत सारे कामनाएं हैं इच्छाएं होती है और नाना तया नाना तरफ खींचने वाली इच्छा है एक पूर्व दिशा की तरफ तो एक पश्चिम दिशा की तरफ तो उसको बंबई की वस्तु भी चाहिए तो गंगोत्री की भी चाहिए सब वस्तु चाहिए इधर भी जाने की चाहता है उधर भी जाना चाहता है उधर भी जाना चाहता है क्या नहीं चाहता शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहाँ कहां उसको मिलना है उसकी इच्छा धड़क तो रही है जाना चाहता है तो वह यही उत्तर देता है कि वह इमे अस्मिन पुरुषे काम है प्राकृत पुरुष जो प्रकृति के साथ चलने वाले हैं शास्त्रीय ढंग से जीवन नहीं है अभी प्राकृतिक ढंग में है पशुपत जीवन चल रहा है उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती है अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी मिले वो भी मिले वो भी मिले ऐसे ये कहा नाना तेरा नाना तरह अनेक देश में ले जाने वाली इच्छा है इधर कोई उधर की इच्छा है तो कोई उधर की इच्छा है ऐसी ऐसी इच्छा भटक रही है दसों दिशाओं में तत्त वस्तु वहां वहां होंगे कोई वस्तु इधर होगा कोई वस्तु उधर इच्छा का विषय तो उसके पाने की इच्छा घटक नहीं होती है ऐसे मैं यही इच्छा रूपी जो व्याधि मेरे मन में है उसके अपने इच्छा दी समावर्तन संस्कार हो जाए हो नहीं पाया सब साथियों का समावर्तन संस्कार हो गया है साथी जब चले गए वो अकेला रह गया तो व्याधि भी प्रतिपूर्वशी मैं रोगों से तृप्त हूं मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं ऐसे बोल दिया व्याधि भी प्रतिपूर्ण उसमें मैं व्याधियों से द्वारा तृप्त हूं पूर्ण हूं मैंने इतने इच्छाएं घटक रही उसे तृप्त हूं नाशिष्यामी मैं भोजन नहीं करूंगा ऐसा उत्तर दिया गुरु मानक भोजन करो कहने पर मैं भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मैं रोगों के द्वारा पूर्ण होगा परिपूर्ण हूं ऐसा कुछ दिया एक कहा ठीक है हम कहते हैं आचार्य अभिप्राय अजानता शिष्य से दुख प्राप्त दर्शन आचार्य का तो अभिप्राय यही था कि जो आचार्य की शुश्रूषा करने वाले शिष्य होता है उसको देवता स्वयं उपदेश करेंगे क्यों उसके लिए मैं स्वयं साक्षी हूं आचार्य उसी प्रकार के आचार्य थी आचार्य की आज्ञा का पालन किया जंगल में गाय को ले गए आखिर में देवताओं ने उपदेश दिया वायु ने अग्नि ने आदित्य ने और प्राण ने उपदेश दिया है तो उनको ये विश्वास है जो गुरु की सेवा करने वाला होगा निष्काम भाव से करता हो तो उसको देवता स्वयं उपदेश करेंगे ऐसा आचार्य का अभिप्राय था किंतु उपकोशल ये समझ नहीं पाए ये कहते हैं आचार्य अभिप्राय अजानत शिष्य से जो आचार्य के अभिप्राय को न जानने वाला शिष्य है उसका दुख प्राप्ति नहीं उसको दुख की प्राप्ति होगी आचार्य जो अभिप्राय नहीं समझता उसको दुख की प्राप्ति होगी इसमें उपकोशल स्वयं दृष्टांत है ये कहना चाहते हैं सहा क्योंकि ये बोलते सह उपकोशल हाँ, वो जो उपकोशल है भाष्य का सह उपकोशल उपकोशल व्याधि ना मानसेन उसको व्याधि के द्वारा अनशितुम दध्रेय है व्याधि के कारण रोग के कारण शारीरिक रोग तो नहीं है उसमें मन में रोग लगा हुआ है मानसिक रोग है उसके समावर्तन संस्कार की इच्छा जगी थी सभी साथियों का कर दिया उसको नहीं किया तो व्याधि ना माने मानस है ना मानस दुख के द्वारा मानस है दुख है ना अनसितुम कर तुम तथे अनशन करने के लिए निश्चय किया धृतवान मना मन को ऐसा निश्चय बना लिया अब खाए पिए बना शरीर त्याग कर देना है ऐसा निश्चय किया तम तुष्टिम अग्नियागारे अवस्थितम वो चुपचाप होकर के अग्नि के घर में अग्निकुंड के पास जाके बैठ गया अब खाना पीना नहीं है शरीर छोड़ देना ऐसे विचार में रह गया तम वो जो ब्रह्मचारी उस ब्रह्मचारी को उपकोशलम उपकोशल को तुष्टम चुपचाप होकर के अग्नियागारे अवस्थितम अग्नि के जो घर था अग्निकुंड था जिधर जिनकी सेवा कर रहा था बारह साल से उधर ही जाकर के अवस्थम आचार्य जायो आचार्य आचार्य की पत्नी ने उसको कहा उस ब्रह्मचारी को कहा वो चुपचाप होकर के बैठ गया अग्निकुंड के पास तो उसको गुरु माता ने कहा हे ब्रह्मचारी न असाना वंश लिखा हे ब्रह्मचारी भोजन करो असाना माने वंश भोजन करो ऐसा कहा क्यों नो माने तस्मान नो कारणात नाशनाशी किस कारण से तुम भोजन नहीं करते हो ऐसा गुरु माँ ने कहा उसको तब वो उत्तर देता है सहोवाचा करके हाँ उपकोशन ने कहा सौ मैंने उपकोषण उपकोषण ने कहा बहुत सारे व्याधि लगी हुई होती है इच्छा रूपी व्याधि इस माने प्राकृतिक जो व्यक्ति होगा जो प्रकृति के साथ चलने वाला शास्त्रीय ढंग से नहीं है प्राकृतिक जीवन पशुपत जीवन है पशु को अपने आहार विहार आदि में संतुष्टि है जितना ज्ञान है उनको कहाँ आहार मिलता है कहाँ कैसा है रहन रहन सहन अपने ढंग वो पशु पक्षी सब जानते हैं उतने मात्र में रहने वाला जो मनुष्य होगा वो प्राकृत पुरुष होता है प्राकृत मनुष्य शास्त्र का ज्ञान नहीं शास्त्रीय ज्ञान से अभाव है जिसमें ये उत्तर दिया सह उवाच उसने कहा उपकोशल ने कहा गुरु मां को बहवो अनेक बह मन बहुत सारे अनेक अनेक अश्विन पुरुष अकृतार्थ जो कृतार्थ नहीं हुआ है कृतार्थ वही होता है आत्मज्ञ जो होता है कृतार्थ होता है कृतम अर्थम प्रयोजन जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया कृतार्थ है किंतु जो अकृतार्थ है जब तक आत्मज्ञ नहीं होगा तब तक अकृतार्थ रहता है अश्विन पुरुष है मैंने अकृतार्थ ये जो मनुष्य है अकृतार्थ मनुष्य मैंने प्राकृत है जो प्राकृत ढंग से चलने वाला होगा शास्त्रीय संस्कार में जिनने इसे प्राकृत मनुष्य में काम माने इच्छा बहुत सारी इच्छाएं घटती है अंतकरण में तत्त विषयों की इच्छा वो मिले वो मिले वो मिले वो मिले वो मिले और वो विषय नाना देश में होंगे एक देश में नहीं होंगे कोई कहीं होगा कहीं कहीं होगा जो जो चाह रहा है वो एक ही एक ही जगह में तो होंगे ना विषय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि कहां कहा है वहां मन भटक रहा है ये कहते हैं प्राकृतिक कामा मन इच्छा कर्तव्य प्रति कर्तव्य के प्रति इच्छा ये करना है वो करना है वो करना है इसकी जो इच्छा है अब उसके मन में धधक रही समावर्तन संस्कार की इच्छा धधक रही थी कर्तव्य प्रति नाना त्यय हो अधिगमनम ऐसा व्याधि नाम माने वस्तु स्वरूप को त्याग करके विषयों में प्रवेश होना यह नानात्य होता है वस्तु स्वरूप आत्मस्वरूप को परित्याग कर विषयों की तरफ प्रवेश करना ये नानात्य ऐसा है ऐसी जब आत्म की तरफ नहीं है तो विषयों की तरफ जाएगा ऐसी इच्छा ये शाम व्याधि नाम ये व्याधियों की ऐसी स्थिति है माने कर्तव्य चिंता नाम या व्याधि क्या है कर्तव्य की चिंता ये मेरे लिए कर्तव्य है ये मेरे लिए कर्तव्य है ये मेरे कर्तव्य एक विषय कर्तव्य बन के हमारे सामने आ जाते हैं जिससे हम अपने स्वरूप की चिंतन नहीं कर पाते इतना हो जाए तब करूंगा तब तक दो और आ जाएगी एक कर्तव्य समाप्त करते करते दो और सामने हो जाएंगे और हाँ, ये तो जरूरी है करना ही है तब तक और दो खड़े हो जाएंगे इतने करते करते जीवन समाप्त हो जाता है कर्तव्य की चिंता स्थिति क्यों मैं अमुक आश्रम का हूं अमुक वर्ण का हूं मेरे लिए कर्तव्य है ये तो करना ही है ऐसा ऐसा आएगा यही करते करते अपना स्वरूप चिंतन से चला गया पूरी जिंदगी चली जाती है अकृतार्थ व्यक्ति में विशेष स्थिति है ये कहते हैं ये व्याधि क्या है तो कर्तव्य चिंता ते नाना तेरा व्याध है यही है नाना प्रकार की व्याधियां हाँ। ये कर्तव्य है इसको निपटाऊ ये कर्तव्य इसको निपटाऊ करते करते जीवन समाप्त हो जाना कर्तव्यता अप्राप्ति निमित्तानी चित्त दुखानी इत्यर्थ कर्तव्यता की अप्राप्ति के निमित्त से उसके कर्तव्यता अभी समावर्तन संस्कार उसका अप्राप्त है तो प्राप्त नहीं हुआ तो उससे चित्त में दुख हो गया इसको मन में दुख हो गया है तो कर्तव्यता अप्राप्ति निमित्तानी चित्त दुखानी यही है मान कर्तव्यता की अप्राप्ति के कारण होने वाले निमित्त से होने वाला चित्त मन में जो दुख है यही है यही व्याधि है तई परिपूर्ण प्रतिपूर्ण उसने कहा उसी के द्वारा मैं परिपूर्ण हूं मुझे खाने की इच्छा नहीं है अतो नाशिष्याम थी इसलिए मैं खाऊंगा भोजन नहीं करूंगा ऐसा गुरु माता को बताया ये कहा ठीक है कहते हैं अतिगमनम माने क्या है नानात्यय का अर्थ कर दिया था भाष्य में अतिगमनम बोला था तो अतिगमन माने क्या है वस्तु स्वरूपम अतिथ्य विषय से प्रवेश वस्तु स्वरूप को अतिक्रमण करके मनुष्य जीवन में आत्मबुद्धि में रहना चाहिए आत्मा में रहना चाहिए ये वस्तु स्वरूप उसको अतिक्रमण करके आत्मा में न बैठ कर विश्व में प्रवेश कर जाना ये नाना नानाते विश्व में चले लगा तो नाना प्रकार की विषयों की इच्छा जागृति रहेगी यही कहा अतिगमनम का अर्थ है वस्तु स्वरूपम अतित्य वस्तु स्वरूप आत्मस्वरूप उसको अतिक्रमण करके वस्तु स्वरूपम अतित्य विषय से प्रवेश विषय में प्रविष्ट हो जाना यही नाना नानात्य इसकी विषयों की इच्छा लटक रही है मेरे ऊपर भोजन नहीं करूंगा बोला नाना तेय यदि कामाना विशेषण ये इच्छाओं का विशेषण है नाना देश में ले जाने वाली इच्छा क्योंकि उस इच्छा का जो विषय एक ही देश में नहीं है भिन्न भिन्न देश में है तो भिन्न भिन्न देश में ले जाने वाली इच्छाएं हैं यही है नाना तेया ये काम का विशेषण माने इच्छा का विशेषण है कथम तेन व्याधय विशेषण थे वो इच्छा के द्वारा फिर व्याधि कैसे विशेष बनेगा काम क्या कहते व्याधि कैसे होगा कहा तथा कर्तव्यता अप्राप्ति निमित्तानी चित्त दुखानी व्याधि यही है कर्तव्यता के अप्राप्ति के निमित्त से होने वाले मन में दुख यही है व्याधि कामा एवं व्याध है इत्यर्थ मान मतलब इच्छा ही व्याधि है जो इच्छा है वही व्याधि है इसके द्वारा मैं प्रतिपूर्ण हो पूर्ण हो भोजन नहीं करूंगा ऐसा कह दिया अब इतने कहने के बाद वो जो चीन अग्नियों की सेवा की थी उसने बारह साल तक माने जारपत्य अग्नि आहवनी अग्नि और अनुहारी पचन अग्नि तीन अग्नि प्रत्येक गृहस्थ के घर में हुआ करते थे पहले जमाने में माने दारेपत्य अग्नि में विवाह होने पर जो अग्नि का आदान होता है और विदूर होने पर फिर पत्नी मर गई वो अग्नि का वो चयन नहीं कर सकता पति पत्नी दोनों चाहिए जब तक हो तब तक होता है वो जिसको अग्निहोत्र बोलते हैं है तो काम तो दो दो आहुति प्रातःकाल दो आहुति सायकाल डालना किंतु अग्नि बुझना नहीं है कभी भी वो अग्नि कभी बुझती नहीं गृहस्थ के घर में ऐसी होती थी पहले जमाने में अब तो शून्य मात्र में है तो एक अग्नि तो ऐसी है दूसरा है आह्वानीय नैमित्तिक कार्य के लिए अग्नि जैसे दर्श प्रणास आ गया तो अग्नि प्रज्वलित करना है हवन करना है कोई भी निमित्ता आ गया कोई पैदा हो गया तो हवन करते हैं मरे तो हवन करते हैं जो भी तो, माने हवन के बिना काम नहीं होता नैमित्तिक कर्म तब तक निमित्त को लेकर के होने वाला कर्म में जो हवन होता है वो अग्नि को आह्वानी अग्नि कहते हैं आह्वानी अग्नि मानी वो नैमित्तिक अग्नि है और ये नित्य अग्नि है अग्निहोत्र अग्नि और तीसरे अग्नि है भोजन पकाने वाली अग्नि प्रतिदिन जो आहार के लिए बनाने वाली अग्नि है वो भोजन पकाने वाली अग्नि माने अग्नि तीन प्रकार के अग्नि जलते थे गृहस्थों के घर में चार अग्नि आहवनी अग्नि और अन्वाहारी है जिसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं वो दक्षिण दिशा में क्योंकि वास्तु के हिसाब से चूल्हा दक्षिण दिशा में होना चाहिए इसलिए उसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं तो वास्तु की दृष्टि से देखते हैं तो चूल्हा होगा दक्षिण दिशा में होना चाहिए इसलिए दक्षिणाग्नि भी कहते हैं उसको भोजन पकाने वाले ऐसा है वो अग्निया जो जिन्होंने जिन्होंने सेवा ली थी उस ब्रह्मचारी से बारह साल तक वह आपस में विचार करने लगे अरे गुरु जी तो छोड़ के चले गए इसको अब ये दुख से पर, परेशान है दुख से परेशान है अनशन लेकर के बैठ गया ना खाने के लिए बोल रहे है हमारी सेवा की है इसने तो हमें कुछ इसके प्रति उपकार करना चाहिए हम मिल करके उपदेश करें इसको तीनों मिल करके इसको उपदेश करें ऐसे अग्नियों के मन में एक भाव आ जाता है पहले तीनों मिलकर के उपदेश करेंगे फिर एक एक का उपदेश होगा बाद में एक एक का उपदेश होगा अग्नियों का भी वो अंग रूप से होगा मुख्य रूप से तीनों मिलकर के उपदेश आप करना चाहते हैं अग्नि तो तीन अग्नि ही बोलते हैं मंत्र है अथाग्नय समुदिरे तत्व ब्रह्मचारी कुशलम न परिचारे हंतास्मय प्रब्रभामेति तस्मयी होचु प्राणो ब्रह्मा खम ब्रह्म खम ब्रह्मेति अथ आग्नय समूदिरे तत्व ब्रह्मचारी कुशलम न पर्यचारी क्षमतास्म प्रब्रवामेति तस्म होचु प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्म खम ब्रह्म अथ मैंने अनंतर जब गुरु जी चले गए और गुरु माँ के समझाने पर भी भोजन न करने के निश्चय करके बैठ गया ब्रह्मचारी उसके पश्चात अर्थ माने अनंतर ही अर्थ शब्द है हाँ प्रसिद्ध है अग्नय समुद्र अग्नियों ने परस्पर बोल पड़े अग्निया सम्यक उदीरे बद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन उदे उदाते उदीरे ऐसा है अग्नियों ने कहा क्या कहा तब तो ब्रह्मचारी आपस में कहा देखो ये ब्रह्मचारी ने बड़ा तपस्या की है हमारी बारह साल तक इसने सेवा की है हमारी सेवा की है बारह साल तक ब्रह्मचारी कुशलम न पर्यचारी कुशल सम्यक प्रकार से न माने असमान हम लोगों की हम तीनों की हम तीन अग्नियां हैं न असमान हम लोगों की परिचारित लुंग लगा रहे परिचारित माने परिचरण किया सेवा की इसने हमारी बारह वर्ष तक सेवा की है इस ब्रह्मचारी ने हमारी तो हंत मान इधानी अब हंत मान इधानिम अस्मय प्रब्रभाम यदि इसलिए हम उपदेश करें प्रब्रभाम लोट लगार उत्तम पुरुष बहुवचन हम इसके लिए उपदेश करें हम तीनों मिलकर के उपदेश करें इति ऐसा तीनों अवधियों ने कहा और उसके पश्चात तस्मय है ऊंचू उस उपगोचर के लिए उस ब्रह्मचारी के लिए तीनों ने मिलकर के कहा तीनों मिलकर एक स्वर में कहा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा कहा प्राण ब्रह्म है कहा एकाग्र ब्रह्म समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ और कम ब्रह्म खम ब्रह्म एक ही है दोनों मिलकर के एक होता है कारण ब्रह्म जो ईश्वर बोलते हैं जो माया विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं ये कम और खम कम आए ख का विशेषण क है क का विशेषण ख है ऐसी कम माने सुखम ऐसा होगा सुख ब्रह्म है ऐसा अर्थ आया सुख माने परिचिन्न सुख अर्थ आ सकता है जैसे खाते पीते हैं थोड़ी देर के लिए सुख होता है भूखा आदि खाना मिला किंतु तो परिचिन्न ऐसा सुख नहीं ऐसा बोलने के खम कहा कैसा सुख व्यापक सुख कम का विशेषण खम कैसा सुख लेना व्यापक सुख सुखरूप ब्रह्म है आत्मा तो आत्मा सुखरूप है किंतु व्यापक सुख केवल खम ब्रह्म बोलते हैं तो आकाश में जड़ है वो जड़ में बुद्धि चली जाती जड़ आकाश में भूताकाश में बुद्धि जाती इसलिए कम विशेषण लगा दिया नहीं नहीं खाली भूताकाश नहीं सुखरूप आकाश ये भूताकाश सुखरूप नहीं है ये दोनों विशेषण है दोनों विशेष है कम ब्रह्म कम ब्रह्म माने भूताकाश को निवृत्ति करने के लिए कम विशेषण लगाया और वैषयिक सुख को निवृत्ति करने के लिए कम विशेषण लगाया एक सुख होता है क्षणिक और खम विशेषण लगाने से व्यापक सुख परिचिन्न सुख नहीं व्यापक सुख यह अर्थ आएगा यह स्थिति है क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि है आनंदो ब्रह्मेदि विजाना आनंद माने सुख सुख ब्रह्म का सुख सुख रूप है एक कम ब्रह्म कम ब्रह्म का ये विशेषण दोनों विशेषण है दोनों विशेष है एक दूसरे को व्यावृत्ति करने के लिए माने केवल कम ब्रह्म बोलते हैं तो परिचिन्न सुख ब्रह्म है ऐसी बुद्धि हो जाती है आपकी उसके व्यावृत्ति करता है परिचिन्न सुख ब्रह्म नहीं होता अपरिचिन्न सुख होता है खम विशेषण लगा दिया अरे बाबा व्यापक सुख परिचिन्न सुख नहीं ब्रह्म व्यापक सुख ब्रह्म होता है ऐसा अर्थ है और खम ब्रह्म इतना बोलते आकाश भूताकाश में दृष्टि चली जाती है ये जड़ में या आकाश ब्रह्म होगा करके तब कहते नहीं नहीं सुखरूप आकाश ब्रह्म है ये सुख रूप नहीं है ये जो भूताकाश है सुख रूप नहीं ये जड़ सुख रूप आकाश ऐसा विशेषण विशेष भाव है ये दोनों दोनों मिलकर के की है उस कारण ब्रह्म की उपासना के लिए कहा कि कारण ब्रह्म है और वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म होगा वो तो ये तो बात से निवर्तन वाला है वो तो कार्यकाल भाव से अतिरिक्त है वो तो उसके तो कार्यकाल कार्यकाल भाव से अतिरिक्त है वो उपासना प्रकट है ईश्वर है ये कम ब्रह्म खम ब्रह्म का अर्थ ईश्वर और प्राणो ब्रह्म माने समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म से समुचित कारण ब्रह्म की उपासना या बतलानी है ऐसा तीनों अग्नि ने ऐसा उपदेश किया क्या उपदेश किया कि प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म तो देवताओं के द्वारा उपदिष्ट हो गया हुआ उपोषण यही है भाष्य में कहते हैं उक्तवा पुष्णिम भूते ब्रह्मचारिणी जब गुरु माता को ऐसा बोल दिया हम्म, मैं व्याधि के द्वारा प्रतिपूर्ण हूं भोजन नहीं करूंगा नाशी श्याम भी बोला ऐसा कह करके उक्तवा ऐसा कह करके तुष्टिम भूते चुपचाप होने पर ब्रह्मचारी चुप हो गया अग्निकुंड के पास जाकर के मौन लेके बैठ गया तुष्टिम भूते ब्रह्मचारिणी गुरु माता को ऐसा कथन करके क्या कहा मैं व्याधि के द्वारा प्रतिपूर्ण हूं भोजन नहीं करूंगा ऐसा कथन करके चुपचाप होने ब्रह्मचारी के चुपचाप हो जाने पर तुष्टिम भूते ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी के चुप हो जाने पर अतः अग्नय और जब तीन अग्निया जो थी जिन्होंने सेवा ली थी ब्रह्मचारी की अथ अग्नय बहुवचन है तीन अग्निया है अग्नियों शुश्रूषया आवर्तिता देखो सेवा से सबको अपने अधीन किया जा सकता है अनुकूल सेवा यदि किया जाए सामने वालों के सब अनुकूल हो जाते हैं सेवा ऐसी चीज है तदविद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवाया प्रणिपात सेवा प्रश्न तीन यही होता है सबसे पहले तो आपके जीवन में नम्रता होनी चाहिए किसी से कुछ लेना हो नम्रता उद्दमता से नहीं होगा दूसरी बात प्रणिपात नम्रता उसके बाद उनकी अनुकूल सेवा देश काल परिस्थिति के आधार पर उनकी सेवा जिससे आप कुछ लेना चाहते हैं उसके बाद में समय पा करके प्रश्न करना ये नियम है ये नहीं कि एकाएक प्रश्न करते जाते हैं ऐसा नहीं पहले प्रणिपात उसके बाद सेवा उसके बाद प्रश्न ऐसा नियम है तो अग्निया जो है शुश्रूषया आवर्ज अग्नया शुश्रूषया आवर्जिता सेवा के द्वारा वशीकृत अग्निया है सेवा से कोई भी अपने अधीन कर सकता है किसी को भी अधीन कर सकता है सेवा में ऐसी शक्ति है अनुकूल सेवा यदि हो जाए कोई भी अनुकूल हो जाता है तो शुश्रूषा मैंने सेवा सेवा के द्वारा आवर्जिता माने बस अनुकूलिता ये आवत टिप्पणी का अनुकूल बनाया है उसने अग्नियों को उस ब्रह्मचारी ने अग्नियों को अपने अनुकूल बना रखा है सेवा के द्वारा ऐसे जो अग्निया हैं विष्टा दया से युक्त हो गए करुणा से आविष्ट हो गए उसके ऊपर दया आ गई उस ब्रह्मचारी के ऊपर अग्नियों का दया आ गई अरे इस विचार ने हमारी इतने साल सेवा की है आज गुरु जी छोड़ के चले गए समावर्तन संस्कार किए बिना ही गए और वो अनशन लेके बैठा और खाऊंगा नहीं करके बैठा है तो गुरु जी है नहीं तो हमें उपदेश करना चाहिए ब्रह्मचार्य नहीं कहा मुझे उपदेश करो अपने आप अपने आप अग्नि आई बोले ये कहते हैं कारुण्याविष्टा करुणा के द्वारा आविष्ट होकर प्रविष्ट हो करुणा वहां दया प्रवेश हो गई उन अग्नियों में आविष्ट हुई अग्निया संत ऐसे होते हुए त्रयोपी तीनों अग्नियों ने एक अग्नि ने नहीं बताया तीनों अग्नि मिलकर के उनको उपदेश किया कि समुद्रे मैंने संभूय उक्तवंत मिल करके कहा उपदेश किया तो क्या कहा वो कहने लगे हंत हमने इदान इस समय में ये दुखी है बेचारा हाँ, गुरु जी छोड़ के चले गए समावर्तन संस्कार नहीं किया और अनशन लेकर के बैठा हुआ है तो इदान ये समय हम लोगों को चाहिए इसको उपदेश करें कि आपस में विचार किया हंत इधानिम मान इस हंत मान इधानिम इस समय अस्मयी ब्रह्मचारी ये ब्रह्मचारी के लिए जो दुखी अवस्था में बैठा है इसके लिए अस्मद भक्त आया हमारा भक्त है ये बारह साल तक हमारी सेवा की है इसने अस्मद भक्त आया हमारे भक्तों के लिए इस ब्रह्मचारी के दुखित आया और दुखी है ये ब्रह्मचारी हमारे भक्त है और दुखी है इस समय में दुखित आया ये दुखित जो ब्रह्मचारी है तपस्वी ने श्रद्धा और तपस्वी भी है श्रद्धालु भी है तपस्वी नेत्र प्रधान सारे ब्रह्मचारी का विशेषण है अस्मद भक्त आया दुखित आया तपस्वी ने ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी ऐसे तपस्वी जो श्रद्धालु है ब्रह्मचारी सर्वे परब्रह्मा सब मिलकर के उपदेश करें ऐसा निर्णय लिया अग्निओं ने एक परब्रह्मा लोट लगा उत्तम पुरुष बहुवचन सब मिलकर के उपदेश करें ब्रह्म विद्याम किसके ब्रह्म विद्या का उपदेश करें हम लोग मिलकर के ऐसा अग्निओं ने कहा आपस में एवं संप्रधार्य इस प्रकार निश्चय करके अग्निओं ने सब मिलकर के निश्चय किया हम सब मिलकर के इसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करें ऐसा निश्चय करके एवं सम प्रधार्य सम्यक निश्चित्य निश्चय करके तस्मय हो चु उस उपकोशल के लिए कहा ऊंचू माने उत्तवंत तीनों अग्नियों ने मिलकर के एक साथ कहा क्या कहा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म कई भाई प्राण ब्रह्म है कम ब्रह्म है खम ब्रह्म है मैंने दो ब्रह्म एक तो कार्य ब्रह्म प्राण ब्रह्म और कारण ब्रह्म कम खम ब्रह्म ऐसा कम ब्रह्म खम ब्रह्म स्थिति है शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद वैसे यजुर्वेद दो प्रकार के हैं दोनों में चालीस चालीस अध्याय है शुक्ल में भी कृष्ण में भी अंतिम अध्याय ईशावास्य परिषद चालीसवां अध्याय शुक्ल वेद में भी कृष्ण वेद में भी थोड़ा मंत्रों में फर्क होता है कहीं कहीं दोनों में हम जो आज ईशावास्योपनिषद पढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेदी ईशावास्योपनिषद पढ़ते हैं क्यों भाष्यकार ने उसके ऊपर में भाष्य लिखा है किंतु शुक्ल यजुर्वेद के जो अंतिम मंत्र होगा वायुरलम अवृत हितम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर अंतिम मंत्र है उसके आगे ओम खम ब्रह्म ऐसा आता है कृष्ण यजुर्वेद में वो नहीं है ओम खम ब्रह्म नहीं है शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद के अंतिम मंत्र माने शुक्ल यजुर्वेद के जो चालीसवां अध्याय है कोई ईशावासी उपनिषद होता है तो उसमें ओम खम ब्रह्मा ऐसा शब्द आता है कृष्ण देवविद में नहीं है अच्छा ठीक आ सकेंगे आचार्य प्रवासा तजाया ने अनुग्रहात तस्द अनशना अध्यवसायाद अनंतरम इति अथ शब्दार्थ या अथ का अर्थ क्या लेना भाष्य में अथ है मंत्र में भी अर्थ शब्द है अनंत तीन कार्य होने के अनंत तीन बातें के बात तीन बात हो चुकी उसके पश्चात ये बोलते हैं अथ शब्द का क्या है आचार्य प्रवासात अथ अनंत आचार्य के चले जाने पर एक तो ये कारण है अथ का आचार्य चले गए आचार्य नहीं है दूसरा तज जाया ब्रह्मचार्य अनुग्रह उनकी पत्नी ने ब्रह्मचारी को भोजन करो भोजन करो करके कहा इसके अनंतर तस्वच अनशन अध्यवसाय और उस ब्रह्मचारी ने निश्चय कर लिया क्या अनशन करने का निश्चय कर लिया इसके अनंतर ये कहने के लिए अर्थ शब्द है इतने काम के पश्चात इसके लिए अर्थ शब्द है कहा अनंतर अर्थ शब्दार्थ हंत ईरान इत्यादि जब ब्रह्मचारी चुपचाप होने के बाद तीनों अग्नियों ने ये निश्चय किया कि हम इसके लिए उपदेश करें हंत मान ईरान इत्यादि हंत यदि ये टीकाकार कहते हैं कि भाष्यकार ने तो हंत अर्थ इधानी कर दिया था टीकाकार अर्थ करते हैं हंत माने यदि अर्थ यदि हंत माने यदि हंत इति यदि अर्थ हो यदि शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ हंत का है यहाँ ये टीकाकार हंत इति यदि अर्थ हो अस्मद भक्तम यदि अस्मद भक्तम यह हंत का अर्थ यदि होगा यदि अस्मद भक्तम ब्रह्मचारिणम उपेक्ष देशांतरम कथा यदि हमारे भक्त जो ब्रह्मचारी है उसको उपेक्षा करके इसके गुरु जी देशांतर को चले गए तभी तब हम ही उपदेश करें इसको ऐसा अभिनंदन ने किया मान यदि गुरु जी ने ऐसा काम किया हमारे भक्तों को उपदेश किए बिना चला गया है गुरु तो तब हम ही उपदेश करें इसको ऐसा अग्निवा ने निश्चय किया ये कहना चाहते हैं गत गत कहा आचार्य टिप्पणी कारण वाला कौन गया कौन आचार्य चला गया यदि ऐसी स्थिति है माने हमारे भक्त को उपदेश किए बिना ये आचार्य यदि विदेश चला गया तो हमें उपदेश करें ऐसा अग्नि ने निश्चय किया जाता है अथ पुनर्यत्य आचार्य विद्याम अस्मय विभक्षताम बक्षदे किम त्वरया इतिहास प्रश्न होगा कि इसके आचार्य लौट करे तो आएंगे ना जब लौट कर आएंगे तो वही उपदेश करेंगे क्यों शीघ्र करके क्या फायदा क्यों अभी उपदेश करें ये प्रश्न हो सकता है अग्नियों को उपदेश की क्या आवश्यकता पड़ी अभी आचार्य लौट के आएंगे जब तब तो उपदेश करेंगे उसको एक अथ मान शंका की शंका में है ननु का अर्थ अथ है पुनर्यत्य फिर आकर के गुरु जी वापस तो आएंगे ना आचार्य आचार्य यत्य वापस आकर के आचार्य ब्रह्म विद्या में स्वयं विवक्षता बक्षती ब्रह्म विद्या इसके लिए जो विवक्षित होगी वो गुरु जी कहेंगे आगे जब वापस आएंगे तो करेंगे किम तो शीघ्र करके क्या फायदा अभी ये शंका होगी इसके उत्तर देते हैं दुखी था आया नहीं नहीं इसको रोकने के समय नहीं बहुत दुखी है ये अनशन लेके बैठा हुआ है गुरु जी आने तक क्या स्थिति होगी पता नहीं दुखी था आया बहुत दुखी है इसलिए हमें उपदेश करना चाहिए एक पौधिया ने निश्चय किया दुखी था आया टीका ने कहा ब्रह्म विद्या साधन संपत्ति में अश्य दर्शेगी ब्रह्म विद्या के लिए कोई साधन चाहिए यदि योग्यता न हो तो ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए कोई भी वस्तु योग्य व्यक्ति में देना चाहिए भूमि यदि उर्वरा नहीं उर्वरा नहीं है तो बीज डालना व्यर्थ है बीज व्यर्थ हो जाना है इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के पात्र है कि नहीं तो कहते हैं पात्र है वो ये दिखाते हैं ब्रह्म विद्या साधन में अश्य दर्शित इस ब्रह्मचारी में ब्रह्म विद्या के साधन है इसको दिखाते हैं क्या तपस्वी ने श्रद्धा कहा तपस्वी है श्रद्धालु है तो इसलिए इसको हम ही उपदेश करें ब्रह्म विद्या के साधन इसके पास है योग्यता है तपस्वी है सारे उपदेश करने के बाद गीता भी कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना न चा सुचन न चमा ये जितने मैंने उपदेश किया था तुमको ऐसे ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना इदम ते ना तपस्कार जो तपस्वी ना हो उसको नहीं कहना ये, ये सारे उपदेश मैंने जो तुमने बताया जो उनको बोल रहे हैं विशेषकर इदम ते ना तपस्कार ना भक्ता है कदाचना जो मेरे ऊपर मेरा भक्त रहा हो उसको भी नहीं बताना नचास्तु शुरू का आच्यम हाँ, जो सुनना नहीं चाहता हो उसको भी नहीं बताना जबरन नहीं करना ऐसा उपदेश होता है हर कार्य के लिए योग्य पात्र होना चाहिए उसका पात्र है कि नहीं वो तो ये पात्र है ब्रह्म विद्या का पात्र है ये कहा दर्शक तपस्वी ने श्रद्धा सर्वे प्रभुर्भाव ब्रह्म विद्या सभी मिलकर के हम उपदेश करें ऐसा निश्चय करके उन्होंने कहा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि बताया अब आगे भाष्य में है सहोवाच ब्रह्मचारी जो ये तीन उपदेश हो गया उसको प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म यही उपदेश है अग्नियों का उपदेश यही है प्राण ब्रह्म है कम खम ब्रह्म है माने खम का विशेषण कम है कम का विशेषण खम है दोनों विशेष है दोनों विशेषण है क्योंकि भूताकाश की व्यावृत्ति के लिए कम विशेषण है और परिचिन्न सुख की व्यावृत्ति के लिए खम विशेष केवल कम ब्रह्म बोल देते परिचिन्न सुख ब्रह्म होगा ऐसी दृष्टि हो जाती इसलिए कहा खम कम विशिष्ट कम व्यापक कम ऐसा कम लेना व्यापक परिचिन्न सुख व्यापक नहीं होता अल्प होता है और खम ब्रह्म इतना बोलते हैं तो भूताकाश में होती चलिए भूताकाश ये ब्रह्म होगा बुद्धि होती इसलिए नहीं नहीं ये नहीं सुखरूप आकाश ब्रह्म है यह सुखरूप नहीं है भूताकाश ऐसा अर्थ करने के लिए विशेषण विशेष भाव दोनों विशेषण दोनों विशेषण है भूताकाश की व्यावृत्ति के लिए कम विशेषण और परिचन्न सुख की व्यावृत्ति के लिए कम विशेषण स्थिति सहो ब्रह्मचारी सहो है ब्रह्मचारी जब प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म करके उपदेश कर दिया अग्नियों ने तब वो ब्रह्मचारी कहता है ब्रह्मचारी ने कहा स ब्रह्मचारी उवाच वो ब्रह्मचारी ने कहा बीजाना में हम यद भगवत भी उत्तम मैं एक प्राणो ब्रह्म को मैं जानता हूं आप लोगों ने कहा जो बीजाना में हम मैं जानता विशेषण जाना विशेष रूप से जानता हूं मैं जानता हूं यद भगवत भी उत्तम आप लोगों ने आपके द्वारा जो कहा गया प्रसिद्ध पदार्थ का प्राणो ब्रह्म प्राण प्रसिद्ध पदार्थ है जिसके होने पर शरीर चलता है जिसके न होने पर शरीर नहीं चलता प्रसिद्ध है प्राण इसलिए मैं वो तो ब्रह्म ही समझता हूं क्योंकि विशेष पदार्थ है वो जिसके रहने पर शरीर की गति होती स्थिति होती है जिसके न होने पर शरीर की स्थिति नहीं होती है वो तो ब्रह्म है प्राण ये तो मैं समझता हूं प्राण और ब्रह्म मैं समझता हूं ये कहा से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ने कहा जब उपदेश हुआ था प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म तो ब्रह्मचारी कहता है कि ब्रह्मचारी ने कहा बीजानामी हम यद भगवत उत्तम आप लोगों ने जो कहा मैं जानता हूं क्या प्रसिद्ध पदार्थ का प्राण प्रसिद्ध पदार्थ है क्यों सभी जानते हैं प्राण के विषय में जिस प्राण के होने पर शरीर की स्थिति होती है प्राण के न होने पर शरीर की स्थिति समाप्त हो जाती है प्रसिद्ध पदार्थ है वो इसलिए प्रति प्रसिद्ध पदार्थ का प्राणो ब्रह्म यदि प्राण ब्रह्म है ऐसा मैं समझता हूं जानता हूं आप लोगों ने जो कहा किंतु क्योंकि ये प्राण के विषय में यशमें सती जीवन जिसके रहने पर जीवन होता है शरीर से चलना फिरना जीवन होता है यशमिन प्राणी सती जिस प्राण के होने पर जीवन यद अवगमित तक जिसके निकल जाने पर माने प्राण के विषय में है ये जिस प्राण के होने पर जीवन है और जिसके निकलने पर न भवती जीवनम न भवती जिसके निकलने पर शरीर की स्थिति नहीं होती ये प्रसिद्ध पता थी तस्मिन वायु विशेष है इस जो वायु विशेष है जिस वायु के यहां होने पर शरीर की स्थिति होती है जिस वायु के निकल जाने पर शरीर की स्थिति समाप्त हो जाती है वायु विशेष है बाह्य वायु नहीं विशेष वायु है अपंजीकृत अवस्था की वायु है ये फिल्टर अवस्था के है ये मिश्रित वायु नहीं बाह्य वायु ऐसा नहीं ये नहीं कि जिसका प्राण निकल जाए उसके मुख में धोकने के द्वारा हवा भर करके जीवित किया नहीं हो सकता बाह्य वायु प्राण के काम नहीं कर सकता वो तो पंचीकृत अवस्था के वायु है या अपंजीकृत अवस्था अपंजीकृत अवस्था के वायु है ये ये शुद्ध है फिल्टर वाला है वो विकृत वाला है बाह्य वायु ये वायु विशेष में प्रसिद्ध है यशमिन सती जीवनम जिसके होने पर जीवन चलता है यद न भवती जीवनम न भवती जिसके निकलने पर जीवन नहीं होता यदि तस्मिन वायु विशेष वो वायु विशेष में लोके रूढ़ प्राण शब्द लोक में रूढ़ है प्राण कहते हैं उसको जिस वायु के रहने पर शरीर की स्थिति होती है और जिस वायु के चले जाने पर शरीर की स्थिति समाप्त हो जाती है लोक में उसको प्राण कहते हैं लोक में रूढ़ है प्राण शब्द रूढ़ है इसलिए उसके बारे में तो मैं जानता हूं प्राण के विषय में तो प्राण और ब्रह्म ये तो मैं समझ गया क्योंकि प्राण विशिष्ट पदार्थ है जिसके होने पर शरीर की स्थिति है न होने पर शरीर समाप्त है मैं उसको समझता हूं ऐसा उपकोषण ने कहा प्राण ब्रह्म है ये तो मैं जानता हूं बाकी अगले वाला ब्रह्म को नहीं समझता मैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म नहीं समझता ये बोलना चाहता अतो हाँ अच्छा मूल मंत्र नहीं हुआ अच्छा सहोवाच विजानामी अहम प्राणो ब्रह्म कम च दुखम च न विजानामीति देहोचूर यदवावकम तदेवकम यदेवकम तदेवकमिति प्राणम चस्मय तद आकाशम आकाशम चोचु सहोवाच बीजाना हम यो ब्रह्म खम चतुखम च न बीजानामीति हे हूचूर यदावक तदेव खम यदेव खम तदेव कम प्राञ्जहास्मै तत्तदाकाशं चोचु सहोवाच स उपकोशल उवाच उपकोशल ने कहा जब पूर्व में प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोल दिया अग्नि ने तब उपकोशल कहता उपकोशल ने कहा बीजानाम अहम यद प्राणो ब्रह्म विशेषण जाना बीजाना विशेष रूप से मैं जानता हूं प्राण ब्रह्म है क्योंकि प्राण गिराने पर शरीर होता है प्राण गिराने पर शरीर समाप्त हो जाता है लोक में प्राण शब्द से उस वायु विशेष में रूढ़ है मैं जानता हूं किंतु तू मान किंतु कम च खम च न भी जाना ये कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो आपने कहा ये मैं नहीं जानता न भी जाना मैं जानता नहीं इसको यदि ऐसा कहा ते सूर ते अग्नय ऊंचू अग्नियों ने कहा जब कम खम को नहीं जानता हूं कहा तब अग्नियों ने कहा ते अग्नय ऊंचू अग्नियों ने कहा तदेव हम यदभाव माने यदेव जो कम है वही कम है विशेषण विशेष भाव है जो नील होता है वही उत्पल होता है नीलोत्पल जैसे शुक्ल वस्त्र जो शुक्ल है वही वस्त्र है जो रक्त है वही वस्त्र है अभेद होता है यदेव कम तदेव कम जो कम है वही कम है और यदेव खम तदेव कम और जो जो खम है वही कम है पहले में कम विशेषण है खम विशेष है और दूसरे में कम विशेषण है कम विशेष है माने कम माने सुखम कम का शब्द सुख का वाचक होता है कम सुखम कम माने आकाशम माने सुखरूप आकाश ब्रह्म है यह अर्थ आता है और आकाश रूप जो सुख है वो ब्रह्म है ऐसा एक दूसरे की व्यावृत्ति के लिए व्यावृत्ति क्या है भौतिक सुख और भौतिक आकाश की व्यावृत्ति करनी है केवल कम ब्रह्म इतना बोलते तो ये परिचिन्न सुख ब्रह्म है ये बुद्धि हो जाती है इसलिए नहीं व्यापक सुख ब्रह्म है कहने के लिए खम विशेषण देंगे उसका और केवल खम ब्रह्म इतना बोला हुआ होता तो भौतिक आकाश ब्रह्म है बुद्धि हो जाती ये खास शब्द से ही प्रसिद्ध है वो तो भौतिक आकाश ब्रह्म नहीं उसकी व्यावृत्ति करने कम विषय सुखरूप आकाश ब्रह्म है ऐसा अर्थ करना है इसलिए दोनों को विशेषण बनाना दोनों को विशेषण बनाना इतना कहने की बात कहते हैं चह अस्मय तद आकाशम को क्या कहा इन्होंने प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म करके अग्नियों ने क्या उपदिष्ट किया श्रुति हमारे लिए अब बोलती है प्राणच अस्मय अस्मय उपकोषलाय प्राणम प्राण का उपदेश किया और तद आकाशम अब जो उसके जो आश्रय आकाश है प्राण का आश्रय आकाश या हार्दाकाश हाँ, हार्दाकाश उसका आश्रय आकाश वही कम ब्रह्म खम ब्रह्म शब्द से उसको कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म से प्राण का जो आश्रय आकाश है आकाश प्राण यही रहता है तो इसको ब्रह्म कहा ये बताया अच्छा तो भाष्य वगैरह थे सहोवाच ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ने कहा बीजाराम हम यद भगवदीर उत्तम आपने प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा हुआ है उसमें से मैं प्राण ब्रह्म ही समझ जानता हूं मैं जो ब्रह्मचारी कहता है यद भगवत भी उत्तम जो आप लोगों ने कहा आप लोगों द्वारा कहा हुआ प्रसिद्ध पदार्थ का स्वाद क्योंकि प्राण जो है प्रसिद्ध पदार्थ है जिसके रहने पर शरीर की स्थिति होती है जिसके न रहने पर शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है सब जानते हैं प्रसिद्ध पदार्थ है प्राण के विषय में तो यावत वायु निवस देहे तावत वार्ता पृछति गेहे गतवती वायु देहा पाए वार्ता को भारिया दिव्यति तस्मिन का है भज गोविंदम भज गोविंद ऐसा है जब तक ये वायु है शरीर में प्राण है यावत वायु निवसती है जब तक वायु रहेगा शरीर में प्राण रहेगा तावत कुशलम पृछ के तब तक घर में आपको पूछते हैं ठीक हो ऐसा पूछते हैं कुशलम पृछति दिए गतवती वायु देहा पाए वायु निकल जाने पर देह नष्ट हो जाने पर भाव्या दिग्गति तस्मिन का ये पत्नी भी डरती है उस शरीर से अब तो पत्नी भी डरती है उससे प्रेत बोलते हैं उसको ऐसी स्थिति है प्राण प्रसिद्ध पदार्थ है तो मैं जानता हूं प्राण के बारे में प्रसिद्ध पदार्थ का त्वाद प्राण ब्रह्म थी प्राण ब्रह्म है ये तो मैं समझ गया आपने जो उपदेश दिया इसका क्योंकि प्राण के विषय में यशमिन सती जीवनम जिसके होने पर जीवन रहता है यद अवगमे तो न जिसके जाने पर जीवन नहीं होता तस्मिन वायु विशेष है वायु विशेष है माने अपंचीकृत अवस्था का वायु है ये बाह्य वायु नहीं कि किसी मृत शरीर में टायर आदि के द्वारा जैसे भोंगड़े के द्वारा हवा भर दिया जाए तो जीवित नहीं होता वो तो बिगड़ा हुआ वायु है वायु वायु वो पंचीकृत है पंचभूत मिला हुआ है वहां तस्मिन वायु विशेष जो वायु विशेष है भीतर की वायु अध्यात्म वायु है जो कि रूढ़ प्राण सब रूढ़ है लोग में तो युक्तम ब्रह्मत्व चतश ब्रह्म होना ठीक है क्यों ठीक है कि जिसके होने पर शरीर की स्थिति है जिसके होने पर शरीर की स्थिति नहीं है उसको ब्रह्म कहना ठीक है प्राणो ब्रह्म जो कहा ठीक है युक्तम ब्रह्मत्व चतस्य उसको ब्रह्मत्व होना ठीक है वो ब्रह्म होना ठीक है प्राण तेरह प्रसिद्ध पदार्थ विजानी इस कारण से मैं प्रसिद्ध पदार्थ होने के कारण से मैं जानता हूं यद प्राणो ब्रह्म जो आपने कहा था प्राणो ब्रह्म इसको मैं जानता हूं किंतु कम च तू खम च न भी जाना तू माने किंतु कम और खम को जो ब्रह्म बताया इसको मैं नहीं जानता उपकोषण ने कहा कम च तू खम च न भी जाना कहते हैं महाराज कम खम भी क्यों नहीं जानते हो कम माने सुख होता है खम माने आकाश होता है प्रसिद्ध है ये भी अप्रसिद्ध कहा ये भी कम का अर्थ सुख और खम माने आकाश तो ये भी अप्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध पदार्थ है क्यों नहीं जानते इसको शंका करे तो शंका है मानो कम खम शब्द जो कम शब्द खम शब्द है दोनों का भी सुखाकाश विषयत्व तो ना कम शब्द सुख विशेष में और खम शब्द आकाश विशेष में ये विषय होता है इनका कम खम शब्द योरपी कम शब्द खम शब्द भी सुखाकाश विषय तो ना सुख और आकाश यथासंख्य करना कम माने सुख और खम माने आकाश ये दोनों का विषय होने से प्रसिद्ध पदार्थकत्व में ये भी प्रसिद्ध पदार्थ हो गया कम माने सुख है खम माने आकाश है प्रसिद्ध है क्यों नहीं जानते हो इसको जैसे प्राण प्रसिद्ध है कम भी प्रसिद्ध है कम माने सुख होता है कम माने आकाश होता है तो प्रसिद्ध है ये शंका करे कस्मात ब्रह्मचारी में हम फिर ब्रह्मचारी को अज्ञान कैसे हो गया कम खम के विषय में तो कम खम भी तो प्रसिद्ध पदार्थ है कम माने सुख और कम माने आकाश प्रसिद्ध है जैसे प्राण प्रसिद्ध है वैसे ही तो प्रसिद्ध है तो ब्रह्मचारी को अज्ञान क्यों रहा है इसके विषय में ये शंका करिए तो सिद्धांत बोलते हैं नूनम सुख से कम शब्द वाच्य से क्षण प्रसिद्ध हम्म। देखो भाई कम शब्द का जो वाच्य होता है कैसा है सुख कैसा क्षण प्रदूषित प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाला होता है विषय सुख हम्म। उसमें कहीं ब्रह्म बुद्धि न हो जाए किसी की हाँ। ये नूनम अवश्य ही ये सिद्धांत बोल रहे हैं सुख से कम शब्द वाच्य से सुख से कम शब्द का वाच्य जो सुख होता है क्षण प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षण नष्ट होने वाला सुख है वो ऐसा सुख होने से और खम शब्द वाच्य से आकाश से अचेतन से जो खम शब्द का वाच्य आकाश होता है वो अचेतन है जड़ है कथम ब्रह्मत्व यदि मन्य दे हाँ। सुख शब्द का अर्थ क्षण प्रध्वंसी प्रसिद्ध है तो उसको कैसे ब्रह्म समझेगा और खम शब्द का अर्थ अचेतन आकाश तो उसको कैसे ब्रह्म मानेगा ब्रह्मचारी नहीं मान सकता इसलिए बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं उसको कहा और कथम च भवदाम वाक्यम अप्राह्मण से आदि थी और ब्रह्मचारी ये कहता है कि आप लोगों के वाक्य कैसे अप्रमाण होगा आप लोग जो बोल रहे हैं कोई ना कोई उसका तात्पर्य है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कम सा कम सा तो ना पिता नाम ये बोल रहा है आप लोगों के अग्नियों को बोल रहा है भवताम वाक्यम आप लोगों का जो वाक्य है कथम च भवताम वाक्यम अप्रमाण से आप लोगों का वाक्य अप्रमाण कैसा होगा मैंने अग्नियों ने विरोध विरुद्ध बोल दिया ऐसा नहीं कर सकते ब्रह्मचारी कहता है आपकी वाक्य अप्रमाण नहीं हो सकता मैं मेरे समझने में गलत हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये कहना चाहता अतो न भी जाना हम इसलिए मैं नहीं जानता हूं कम और कम को नहीं जानता हूं ये ब्रह्मचारी ने कहा समय हो गया है ठीक है ठीक है ॐ आप्यायन्तु माङ्गानि